अमर वाधा हिंदवाणी उदल मानी जो तुर्काणी उद शिल ये दोनों ही दड़ा मेहमान जो है और लीला का सवार सवार है ऐसा हाँ? क्या क्या हाँ, हा हा ਮਨ ਮਾਲਕ ਬੇ ਸਾਰਾ ਪੈਲੀ ਸਿਵਰ ਜੋ ਗਾਵਰੀ ਨੰਦ ਗੁਣੈਸ਼ ਪੈਲੀ ਬਿਨਾਇਕ ਸਿਵਰ ਜਾ तो विनायक शिव चार बुजादारी सिद्ध नारी सवर करे थारे मुसारे अशवा रे ജന വിനായക ശിവരജ പുരുഷനെ അത് നീരോടമാ शुद्ध बोला महादेव ने शिवर जे गोरा पार्वती कंता ਸਦਾ ਭਵਾਨੀ ਦਾਇਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਨੀ ਦਾਇਮੀ ਸੁਨ ਮਗਰੇ ਗਣਾ ਪਾਸ ਦੇਵ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰੇ ਮਰਦਾ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੈਂ <laughs> आर्दराणे शारदराणे बरम वेद में तुए बखाणे से लालक से जा সুরসা তেরে বার কইনা তুটি বারবার কইনা আকারড়া দুই চার নিময়ে গনি মেলিও মর্দা সাত বড়ি সংসার शारद न सोवे कंसवा विस्मोचारा दोरा पाठ पुजारा शिवर जो बेरू का गोरा खाना कुंडल सिर जटा खाना कुंडल सिर जटा अंग बबूत लगा महादेव ने शिवर जो बैठो मेरा डम्बर छाया வெட்தர சாயி தர்தரி வெட்தர சாயி தர்தரி உடந்தே ஆகா சிவர் ஜோதிரே நைய மாயாருபா ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਮੰਗਲ ਕੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਉ ਤਾ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇ ਮੂਆ ਲੈ ਸਮਾ सती माता यूं रखे तणे जियूं बालक ने माया नरसिंह नावे निर्मला नरसिंह नावे मेरा गोबो की पेड़ा तेरे प्रभु संकट बजाए दो sin med lankana ya tåla Sarvar hansa simre ja Sona barnita ci padma pavaje ਪਾ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਅਜ ਮੇਰੇ ਰੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਅਜ ਮੇਰੇ ਰੇ ਓ ਕਰ ਸਰੀ ਜੀ ਦਾ माला डूंग जा था मैं जलिया साल राम देव विराजा सो साल देव विराजा सो सल काली ना तनका બિરાજા દુખતા તોરણ બાંધા દેવ વિરાજા છો ચલ દેવ વિરાજા છો ચલ કૃષ્ણ વિરાજયા झड़ पड़े शिवरा पेला बोरा पा देव विराजा सो सला वाली 나왜 저주받아 이즈가라 이베샤라 이즈가라 이베샤라 바스글라고 데브리세 Shakti Bodha Zago Krishna Murari Deva Deva Tuta Datsa Palate Deva Tuta Datsa Palate Deva Tuta Datsa Palate पकड़ कंवड़ नीब दे आवे बोधाय तो भाय इजगराई बेसण इजगर आए बेसण बासक लागो देवरी से की पोडा जागो कृष्ण मुरारी देवा काला गोरा बेरू शिवरिया देवी समडारा समदो हक्का तोड़ता उते जरा मार खिलावे ஓத அர்ஷ்நாத் பேரும் அரரி கலா பர்தா வேதா திருகிலாவே காமினா ஜனே தூட்டா பேருந்தா ਵਪਾਰ ਲੰਗਾਵਣ ਪਰਮੈ ਕਰੋ ਬਾਰ ਲੰਗਾਵਣ ਪਰਮੈ ਕਰੋ ਹੇ ਮਾਲੇ ਕੇ ਦਾਰ ਓ ਪਿਲਿਆ ਪਾਲੋ ਜ਼ਪੇ ਤੂੰ ਜਾਗ ਬਣਾ ਦਾਤਾਰ विनायक निवण घरोआ निवण करा सुर ते तीसा निवण करूं बड़ा बड़ी चावड़ा झड़िया शंकर तोड़ा मलार हे जीवला कृष्ण वाला दूंदाला दुख भानना सदा नवाली देश सारा पहली सिमर जो गदानंद गणेश गणेश पहली विनायक सिमर जो चार बुजा धारी धारी रिधि सिद्धि नारी चवर करे मुसारी असवारी असवारी વિદ્યાને વિનાયક શિવજો પોર્ષને આજની કા હળવંત હળવંત સિદ્ધ સિદ્ધ ભોળા મહાદેવને સિમરજો ગોરા પાતીરા કંત કંત સદાય ભવાની દાયમી સુનમક રહે ગણેશ ગણેશ વાસદેવ રક્ષા કરે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મહેશ आर्द्राणी शारद्राणी ब्रह्म वेद में तुई बखानी सेला लक्ष्य चार चार विद्या मांगे सुर सती के बार बार कोई ने टूटी भरवर कोई ने आखला दोयन चार चार निमो एक नी में लियो शारद बड़ी संसार संसार शरद ने सोवे कंच वो बिच मोतिया का धोरा धोरा पहली पाठ पुजारा शिव जो बेरू काला है गोरा गोरा दूंदाला ने सिमरे हली बाल दी ए वालियो ग्वाल खतुजा खातिरो डीकरो सफे इरण सफे लवार लवार सर ने सोवे कंचवो बिच मोचा का धोरा पहली पाठ पुजारा शिवर जो बेरू काला हर गोरा गोरा Zibya zavala Sursuti Mukha Barshe Mahesh Latsu Kya Answer Kanta Kare Gauri Nand Ganesh Ganesh खाना कुंडल सिर जटा अंग बबूत लगाए महादेव ने सिमर जो बैठो में गडम्बर छाय बैठ रसाई धरती उठन ते आकाश उन पुरख ने सिमर जो सिरे नहीं है मायर बाप बाप धरती माता थे बड़ा मंगल के री माय जीवता लाड लडावे मुआ लेवे समाय समाय धरती माता यूरा के जीव बालक ने माय माय नरसिंह नाम निर्मला घट में राखो पूर पत राखी भगत पेड़ादरी प्रभु संगठ पड़ा हिजूर दुर्जीरो तारो सिमर जो कृत्या कहरी जोड़ राम लक्ष्मण ने सिमर जो छिन में लंका लाया तोड़ सर्वरसला सिमर जो सोना बरणी चाँच बौड़ी घोड़ी सोई बोझ ने सिमर जो बरसी पदम पवा से पांच पांच दिन धरती अजमेर की पोकर सरसी धाम दिन में माला सर की डूंगरिया थामे जलमिया श्री भगवान भगवान देव विराजा सोसले गुगरवाली खाट खाट मेघनाथ बजावे किंगरा देव ने बिड़दावे छोचु नारद भाट भाट दिन फुरनारी डूंगरिया दिन देवरा मेला ना साजा साजा गठ गठ को राज भी करे रंग सु राजा राजा देव टूटा दसा पालटे में बूठा बनराय खड़ खड़ कमड़ नी बजे आवे भोजाई तो भाई भाई इसग्राही देव रे बैसणे बासक लागो देवरी सेव, हाथ जोड़ करा बेनती फोड़िया जागो किशन मुरारी देव देव देव टूटा दच्छा पालटे में बूटा भंदराय भंदराय कड़का कड़काउण नीब जे आवे भोजायत भाई लड़ टूटी आसमान सु मृंगा हिंडा बाला खेल दोरी बेड़ा देव नारायण ने सिमट जो उदल करे उबेल दिन जा रे उदो धनी में नरव कलपे काई कर्महीन फिरे भटकता चूक चाकरी माय माय काला गोरा बेरू सिमर जो देवी चामुंडरा जमदूत आका तोड़े ताव तेजरा मार खिलावे सम्माशा भूत भूत खप्र में खावे मशान में लोटे तो भैरूनाथ री पूजा कुण मेटे हर्षनाथ बेरू हरेरी काला परजा आवे जात पुत्र खिलावे कामनिया जाने टूट का भैरूनाथ नाथ निवण विनायक निवण करूं निवण करा सुर तेतीसा करोड़ निवण करूं आज भवानी बड़ा बड़ी चामड़ा जड़िया संकल राले तोड़ तोड़ आई नात्री आप शिवना वही वही है ओ बड़ा बड़ी की शिवना वही है बगड़ावता नहीं बार था कटा सुन लिरिजे लिरिजे हेंटो मिंटो गूंद करी रो छुए પેલી રાજા ધોવળ બખાણી છે બખાણી છે વિદે બખાણો શેર રાજા તપ્યા અજય પારજી અજમેર ડાબરા પૂતળા હરજીત વિયા અર ગુરિયા રોદ નિશાન अन्नड़ कुंड में ऊपना आद बड़ा छवान आद माता आशापुरा है तीर्था घरु पोकर गडानो घरु अजमेर ज्यों पवारारी धार आ बगड़ा उतानो बैसनो पर्वत नागवा नागवार હા દેવનારાયણની કૃપામાં વડાવતાની વાર્તા ખટાવશું લીરીજે नागपाड़ में शंकर भगवान आप विराजमान वेहरिया है और धुनी है खटोलियारी डूंगरी शिव महादेव बगड़ावता ने तुष्ट मानविया धुना पर பரானே சுவருய் பார் சுவா துடா வேணே படனே सुवरो एक पारसा टूटा अगेणे नाथ खाजो बिजो कुंवर बागरा करियो देवरे सार खाजो बिजो जी कुंवर बागरा करियो देवरे सार थाने जीव सरसा पावना मिलन बारा बार राज ने जीव सरिषा पावना हे मिलन बाराबार खासी गायाज कुमार बागेना हे काचा दुग संसार कासी गायाज कुमार बागेना हे काचा दुग संसार काचा गाड़ियाज भगवत पोदड़ा हे सधान लागे वार काचा गाड़ियाज शरीजन पोदड़ा सदान लागवार साधुदारी वालो सगोई माया एश गे ओ सगान संसार सुरमा सामन्य सगो माया सगे सगोलया संसार बंदा सगे तो बनरियो लागड़े उठो धड़े ले लारे बंदा सगी तो बन के लाखड़े आय उठ दड़ली लारे बंदा सगी बनरे लागड़े हा देव नारायण वाला भगवान सेयो सूरवा सेया शंभु नाथ नाथ कोड़ सवारो पोरसो भोज ने टूट का अजीणी नाथ नाथ खजो पीजो बगड़ावता करजो जीवरी सार सार जीव सर सा पावना आपने मिले नहीं बारंबार बार आकाशी काया सूरवा काचो जुग संसार काचा गड़िया नारायण पूतड़ा जातन लागे वार वार मन सको नहीं माया ही सगी नहीं सको नहीं संसार सगी है बनमैली लकड़ी अरवा लिखी वे तो उठ जड़ेली लार साढ़े तीन मन को पोरसो कंचन को स्वाई बोझ ने महादेव जी महाराज दियो दियो जाओ बच्चा बारह वर्ष की माया बारह वर्ष की आपकी काया बारह वर्ष आ गए माया रेवे कोई आपकी काया रेवे रेवे बारह वर्ष में पगा तक काट काट गढ़ किला सोना का जुगा दो तो माया निठेला कोई नहीं है साहब पौरसो चौबीस भाया में लाया को सिरदारा ई माया ने की कर खावा और की कर रस्ते लगावा लगावा यह धरती में अमर कैसे की कर അമൃതാവേവേ दरबार में सारा भाई बेड़ा ज़ाज़िर दारोबार मरदा बुजोनियो दादा तेज ने माया खमा रंग डाल राम बुजो दादा तेज ने माया खमा रंग डाल माया बाणो जी कुंवर बागरा रो ज्ञान बताय माया दिनी बाबा नाथ जी हाँ। किसन मला साराई भाई भेड़ाविया तेजा राउत के दरबार दरबार बुझो दादा तेज ने माया खावा खिसड़े डाव डाव इस भाया में थे बड़ा देवो गुरु ज्ञान बताइए माया दीनी बाबो ना जी की कर खर्चेर की करे खाइए खान पीन का माने रास्ता बताओ बताई दो को भाई वे माया कटे मने बताओ साढ़े तीन मन को कंचन को पोर सोते जाती रे मुंडा ले जाए मिलियो देख माया रा रूप हर थर दूजा हे दादा भाई माया देख दूजा क्यों कहीं डर लागो है तीन को रत्ती फटे ये काया पड़ी रहे तो काया ने डर नहीं है ये माया ने डर है रेण में दुर्जन सिंह प्रिया राज करे मंडोर ऊपर नाड़ दे प्रिया राज करे अजमेर माते विश्व दे छमान राज करे मारे वाने ठा पड़ जाई बगड़ाउता ने माया लादी तो बारिश छाड़ दे ही फौजा ले ले अपने माता आ जाए आ जाई वो पगा आपा माया दानी ई माया री खातर आपा मरनो पड़ी मरनो पड़ी फिर भाई या मौत कटू लाया लाया हाँ हो दादाजी अभी माया रो कहीं करा तो तेजो जी महाराज कहीं तेज सी भयानक ने है શિષોદેવાડાળાય માયા નાગબાળ મેં ગાડ દો શિષોદેવાડાળાય મારદા કાળ તો પડે કૃષ્ણો આ પડે લેવા માયા ને કાળ સુરા કાળ પડે કૃષ્ણો એ પડે લેવા માયા ને કાળ ખાયા ગણ્યો મલામાં બળવા ગેરા बेशारा गज थाट खाया घणियों मुलावा बड़ बागरा बेशारा गज थाट पर जा हट जुड़ी माड़वे लेवा पर दादा पर दादा લેવા પરદા ડાબ્યા પાધન ખરીદા શોરવા કરો ભીણ બોપાર્યા પાધન ખરીદમ બળવા ઘેરા તારા ભીણ બોપાર માયા ડોલી શે ધૂણીઓ કરા બધ અંતિયા પાર માયા ડોલી से दूनी आखरा बदे पार माया डोडे से दूनी करा <coughs> माया भाई ना नागवार में गाड़ दो उबरे शिशो देवो डोलाय हाल पड़े कुछ मो पड़े जन ले ही माया ने काट काट और गया मोलावा सूरवा बेशा का गज थाट थाट प्रजा जावे डुलोड़ी मालवे जना ले जाति प्रजा ने ढाब ढाब दान खरीदा सूरवा करा भिणज માયા દોડી શું ધૂણી કરા પછી બધે અંધા મારવાડ્યા બાસ અણથી ચો કાળ પડી જાય તો હલક માળવા ને મારવાડ ભીર વેજાવે કાંઠે કાંઠે થાણા बेसाण देव सब लोग ने आप ढाब ढाब ले सुनो भाई दो से दो सिक्को में घोड़ा फेर आया घास पानी नहीं है आ, मर जाओ थानो धन मर जाए गया बेशा मोल दे दे सौ रुपया ने गाय तो पचा में ले लिया ले वाले पची में ले लिया ले है कुआ बावड़िया होद तड़ाव खिणावना शुरू कर दे कर दे सब लोग ने मजूरी लगा दे लगा दे जेठ अषाढ़ को महीनो आई दो दो बैल दे दिया धान तोल तोल घरू दिया हवाई बाडी डोडी बाडी धानरी दड़ी लगाई दे लगाई दे वहां हाँ हमारा भाया खूब खेती करो असी तरह से बे खेती करसान करेला हाँ। भगवान जमानो करेला खत पानड़ा ले खड़ारी पाली में जाए बेच दे सुनो भैया हजार रुपया खाया जाना बस मारे निकलियो अबे मारा पाचा दे दे तो पाचा कई रीति हूँ लेवा लेवा दाम दूना धान तीना चापड़ सोपड़ दोनों बार ठीक आशा अंतन पार पार है जी जी ते टापरो कुटाला लार खावाला हाथ पीड़ी भी माने नहीं छोड़ा छोड़ा नहीं इवे करता खाई मर जावे तो श्री कृष्ण अर्पण वे बजोर तो पुन भावे हाथ नहीं आवे तेजो जी बगड़ाऊ था बाग जीरा कौन है व्यापारी बात क्यों या आने ये बाणे माजना का ये समझा रहे आप तेजो जी महाराज किया है यो दादाजी आप नीम ऊंडी घनी दी रही हाँ। बराबर समय काल नहीं पड़े तो ये जमीन में गजुड़ी गजुड़ी रह जाओ अमर नहीं वहाँ हाँ। माया जरूर खावा आप पाठवी और मान मार्ग बताओ बताओ तेजो जी नाका रुक तो कहीं हाथ जोड़ और दादा भाई ने समझावे और कहवे हाँ। 拉手鼓啦，一唱里又来。 कलगा सो मर जाए रे सुनियोड़ा तो देवाल डे भरे सालिया सो मर जाए मरदा उजाड़ खेड़ा फिर बसे निर्धन आदलवाय सूरा उजाड़ खेड़ा फिर बसे निर्धन आदलवाय जुग भेगिया रतन ने बावड़े मुआन देव काय जुग में गिया रतन ने बावड़े को यजुग में गियार तन ने बावड़ मलार है जीवना हे दादाजी उगया सो नर आतवे फुलिया सो कुमला कुमला सुनिया मिंदर डे पड़े जलमिया सो मर जाए उजड़ खेड़ा फेरू बसे निर्धनियाई धन हो गिया रतन नहीं बावड़े मुआ जिये नहीं कोई बूढ़ा का जवान को नहीं वे मरोड़ा जीवता वे नहीं नहीं है दूसरी बात है सब भेजावे भेजावे और नी ऊंडी गणी दीवी और माया खान का आप मार्ग बताओ बताओ आप रहा तू खर्च भेजा तो फूट ही लागे लागे माया जरूर खामा खामा जगन खमारी बाड़ी बागेरा बारे कदा दावान धरती यगन हमारी बाड़ी बागेरा बारे कदा दावान सुदा थानी वाणी करे गया हिंदू मुसलमान जोधा थानी जिमानी करे गया हिंदू मुसलमान रण में पीर पकम्बर अवेलिया और सो की जटदारा रण में वीर पकम्बर अवेलिया जोगी जटदारा हरदा जरा तो आसन फिरे नए दर्गी लगी सारा सूरा जरा आसन फिरे नए धरगल गे सारा जमान कमार हाथा तो डूंगर तालता तो दरिया घूट तो- बारग बेनर हाथा तो पर्वत तालता तो दरिया घूट बारे धरती विशा विशाल नारायण गए कूड़ा घर बकार धरती जी माता गए कूड़ा गर्व करे धरती माता जोदा जी वाला कृष्ण वाला धरती अकन कुमारी भरी कथा जवान जवान जोदा थानी माने करगा हिंदू मुसलमान मान पीर पकंबर अवलिया जोगी जट धारा धारा अशन थिरवाना कोनी रिया धरती गिल गया सारा सारा गर्भन मत कर गेला मानवी गरमा घना गुमान काले हंसो जातो रही जाने थरूर फेंबड़ी रो पान पान हम उनको फटकारो लागे पंतो थोड़ा दिन रो जीवनो मर जानो है काल માયા માણો हा आयो और नहीं आयो થોડા દિનરો ऐसी बातें बिचारो पिंटी बात छोड़ दो छोड़ दो ये आप माया खान का मन मार्ग बताओ बताई दो को भाई माया नहीं ठाता ये नागवार पर्वत बंको है खुदाई बाई से खाड़ो माया ने ऊंडी गाड़ दो कोई टाइम में आड़ी आवेला आवेला फिर अजोर और तेजाजी महाराज ने कई सवाल माया मारा और कदई सुसनी मान सूरा कदे के पानी डोंगरा कदई सुसने वाण तो जुग में माया तो मानड़े भले खांसी भले का बाण जुग में माया तो मानड़े भले हे खांसी भले का बाण मेरा घोड़ा तो फेरड़ा भला और सीधा भला ने वाण सूरा घोड़ा ਅਰ ਜਾ ਭਲਾ ਨੇਵਾਨ ਮਰਦਾ ਅਣਸਿਆ ਮੂਰਖੇ ਭਲਾ ਸਿਆ ਭਲਾ ਸੋਦਾਨ ਸਿਰਾ ਅਣਸਿਆ ਮੂਰਖੇ ਭਲਾ ਅਰ ਸਿਆ ਭਲਾ ਸੋਦਾਨ ਮਰਦਾ ਯਾਨੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆ ਮਿਲੇ ਕਰੋ ਜਾਨ ਰੇ ਬਾਦ ਸੁਰਾ ਯਾਨੀ ज्ञानी ज्ञानिया मिले कर ज्ञान रे बात हर नाम रखने मूरखे मिले के तो मुकी के था सूरा मुँह रखने मूरखे मिले के मुकी के था मरदा संगत करने सादरे लेवे राम रोना मरदा संगत करने सादरे लेवे हाँ, राम रोना सूरा ओती संगत नेसरे गजत गजत हर गट जाया मरदा ओ सी संगत ने मलार है जी माया मानो बगड़ा उता मथी चूको ओशान ओशान ओशान लियोड़ा नहीं आवे नहीं आवे कदेक पानी लादे डूंगरा कद सुसे बेता निवा निवान सोमा सारा डूंगरी छोटी मात पानी लादे लाजवे ये जेठ बैसाख रे महीने उबी नंदी पड़ जा तो थिसा मर तो मर जा मर जावे कदे पानी लादे डूंगरा कद सुस निवान निवान माया तो माणी बली खांची बली कबान कबान घोड़ा तो फेरिया बला सिंचा बला निवान निवान अन छेड़िया मूर्ख बला छेड़िया बला सुजान सुजान ज्ञानी ने ज्ञानी मिले करे ज्ञानरी बात मूर्ख ने मूर्ख मिले जरा कह तो मुकिर के थाप थाप संगत करनी सादरी लेवे राम नाम नाम ओची संगत है नीचरी पसे घटत घटत है घट जाए हे दादाजी कृष्ण संगत लगाओ हाँ, महादेव जी प्रश्न में आपने माया दी है दीदी है खूब माया मानो धरती में नाम ना करने आप साफ करो अरे मत गड़ाओ मत गड़ाओ तो भी आप मानी नहीं है तो हाथ जोड़ फिर भी कहीं सवाल Tira tara deva. निभावजा तीरथ में मरिया पस तो वे देवड़ा हो से नार सुरा मरिया पस वे देवड़ा हो सुरारा से नार धानिया मांडियो मेरे टे पड़े काया रा बुलटा धानिया मांडी जी मेरे टे पड़े खाया राबुद डांडरे दी ओढ़त तो साथे हाल से पस बरना थमाला धम डांडरे दी ओढ़त तो आते हाल से पस बरना थमाला धम डांड राजा मुझे गियोई बिन पांजरा करण भी दाता राजा मुझे करण भयो दाता राजा सवा पुरुष नई दिया सवारी गाय राजा सवा पुरुष नई दिया और सवारे गाय राजा कर्ण ने कारा नहीं करिया वो गंदे हरिवाद राजा कर्ण ने करो नहीं करिया हाँ यू प्रभा Mata Raja Shala Bhagya Shalva कुरवला देव नारायण भला कुआ खिणाओ बावड़िया तिरतड़ा निवान मरिया पते वे जावे देवड़ा रे जावे सुरा का सेनान मांडी मेडिया अड्डे पड़े हाँ कायारा भुज डंड हाथरो दियोड़ो हाथ ले लारू भरड़ा जमाना जमडंड जमडंड लारू की नहीं करे लोग संसार भुंडा के फलानो आदमी बलो पाव पेटियो भी, नहीं लागो नहीं लागो ये दूधारी बढ़िया है हाथों कर दा ओ दादाजी हाथ हाली हाथ ले ला राजा मूंज गियो बिन कूंजरा मूंज राजा के तो अंतकाल ले भी के शेष हाथिया ने हल्के बेस में कूटपुरी में जाऊंगा जाऊंगा शेष हाथी ला रही रहेगा और मार गुर्दों राम राम का जमदूत मार पीट कर लेगा लेगा लारी रहेगा रहेगा मूल तो बिन करण दातार सवा सोनो दियो और सवारी गाय गाय करण नेकारो नहीं करियो उगन ते अंत काल ले भी के भगवान करु सवा पौर टेम कोसली हाँ समाल बोल जो राजा कर्ण की बात टेम है किशोर राजा धरती में करण वियो जो को भी थिर नहीं रिया हां एर माया उंडी मत कर मत गड्डो करण की बेला किने के वहां करण की बेला किने के सुबह सुबह तो भी आप माने नहीं है तो फिर हाथ जोड़ और कई सवाल के हे दादाजी माया खमाला हाँ। आप माने पाठवी हो बड़ा हो आपका हाथ को खर्च में जा तो फूट रही ला हाँ, ठीक लागे थाल गेल माया बारा बरस के पावनी माया आदरो मेल माया बारह बरस के पावनी माया हाथरो मेल माया दातारा घर अशतरे सुमारे घर माया माया दातारा घर अशतरे सुमारे घर माया माया दिन माता सुमने नहीं खर्चे नहीं खाय माया दिलियो दाता सुमने नहीं खर्चे नहीं खाय पाप